अलबत् बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वो सब जहन्नुम से दूर ही रखे जाएंगे